अनोशो टॉक गहरे पानी पेट नंबर थ्री दो विषयों पर तो चर्चा हो तिलक के संबंध में तिलक के संबंध में समझने के पहले दो छोटी सी घटनाएं आपसे कहूंगा फिर आसान हो सकेगा दो ऐतिहासिक तथ्य 1888 में दक्षिण के एक छोटे से परिवार में एक व्यक्ति पैदा हुआ फिर पीछे तो वो विश्वविख्यात हुआ रामानुजम बहुत गरीब ब्राह्मण के घर में बहुत थोड़ी सी शिक्षा मिली लेकिन उस छोटे से गांव में ही बिना किसी विशेष शिक्षा के रामानुजम की प्रतिभा गणित के साथ अनूठी थी जो लोग गणित जानते हैं उनका कहना है कि मनुष्य जाति के इतिहास में रामानुजम से बड़ा और विशिष्ट गणितज्ञ नहीं हुआ बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं पर वे सब सुशिक्षित थे उन्हें गणित का प्रशिक्षण मिला था बड़े गणितज्ञों का साथ सत्संग मिला था वर्षों की उनकी तैयारी थी रामानुजम की न कोई तैयारी थी न कोई साथ मिला न कोई शिक्षा मिली मैट्रिक भी रामानुजम पास नहीं हुआ और एक छोटे से दफ्तर में मुश्किल से क्लर्की का काम मिला लेकिन अचानक खबर लोगों में फैलने लगी कि उसकी गणित के संबंध में कुशलता अद्भुत है और किसी ने उसे सुझाव दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय विश्व के बड़े से बड़े गणितज्ञों में एक हार्डी प्रोफेसर थे उनको लिखो उसने पत्र तो नहीं लिखा ज्यामिति की डेढ़ सौ थ्योरम बना के भेजती हार्डी तो चकित रह गया उतनी कम उम्र के व्यक्ति से उस तरह के जामिति के सिद्धांतों का अनुमान भी नहीं लग सकता था उसने तत्काल रामानुजम को यूरोप बोला और जब रामानुजम कैम्ब्रिज पहुंचा तो हार्डी जो कि बड़े से बड़े गणतक था उस समय के विश्व का वो अपने को बिल्कुल बच्चा समझने लगा रामानुजम के सामने रामानुजम की क्षमता ऐसी थी जिसका मस्तिष्क से संबंध नहीं मालूम पड़ता है अगर आपसे कोई गणित करने को कहा जाए तो समय लगेगा बुद्धि ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसमें समय ना लगे बुद्धि सोचेगी हल करेगी समय व्यतीत होगा लेकिन रामानुजम को समय ही नहीं लगता था यहां आप तख्ते पर सवाल लिखेंगे वहां रामानुजम उत्तर देना शुरू कर देगा आप बोल भी ना पाएंगे पूरा और उत्तर आ जाएगा बीच में समय का कोई व्यवधान ना होगा बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई थी क्योंकि जिस सवाल को हल करने में बड़े से बड़े गणतज्ञ को छह घंटे लगेंगे ही फिर भी जरूरी नहीं कि सही हो उत्तर सही है या नहीं इसे जांचने में फिर छह घंटे उसे गुजारने पड़ेंगे रामानुजम को सवाल दिया गया और वो उत्तर देगा जैसे सवाल में और उत्तर के बीच में कोई समय का क्षण भी व्यतीत नहीं होता है इससे एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि रामानुजम बुद्धि के माध्यम से उत्तर नहीं दे रहा है बुद्धि बहुत बड़ी थी भी नहीं उसके पास मैट्रिक में वो फेल हुआ था कोई बुद्धिमत्ता का और लक्षण भी ना था सामान्य जीवन में किसी चीज में भी कोई ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं मालूम पड़ती थी लेकिन बस गणित के संबंध में वो एकदम अति मानवीय मनुष्य से बहुत पार की घटना उसके जीवन में घटती जल्दी मर गया रामानुजम उसे क्षय रोग हो गया वो 36 साल की उम्र में मर गया जब वो बीमार होकर अस्पताल में पड़ा था तो हार्डी उसे और दो तीन गणितज्ञ मित्रों के साथ देखने गया उसके दरवाजे पर ही हार्डी ने कार रोकी और भीतर गया कार के पीछे का नंबर रामानुजम को दिखाई पड़ा तो उसने हार्डी से कहा आश्चर्यजनक है आपकी कार का जो नंबर है ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है मनुष्य की गणित की व्यवस्था में यह आंकड़ा बड़ा खूबी का है उसने चार विशेषताएं उस आंकड़े की बताई रामानुजन तो मर गया हार्डी को छह महीने लगे वो पूरी विशेषता सिद्ध करने में वो जो चार उसने विशेषताएं उस आंकड़े की बताई थी आकस्मिक नजर पड़ गई थी हार्डी को छह महीने लगे तब भी वो तीन ही सिद्ध कर पाया चौथी असिद्ध रह गई बात हार्डी वसियत छोड़कर मरा कि मेरे मरने के बाद वो चौथी की खोज जारी रखी जाए क्योंकि रामानुजम ने कहा है तो वो ठीक तो होगी ही हार्डी के मर जाने के 22 साल बाद वो चौथी घटना सही सिद्ध हो पाई कि उसने ठीक कहा था उस आंकड़े में यह खूबी है रामानुजम को जब भी ये गणित की स्थिति घटती थी तब उसके दोनों आंखों के बीच में कुछ होना शुरू हो जाता था उसकी दोनों आंखें पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थी योग जिस जगह रामानुजम की आंखें चढ़ जाती थीं, उसको तृतीय नेत्र कहता है उसको तीसरी आंख कहता है और अगर वो तीसरी आंख शुरू हो जाए तीसरी आंख सिर्फ उपमा की दृष्टि से सिर्फ इस ख्याल से कि वहां से भी कुछ दिखाई पड़ना शुरू होता है कोई दूसरा ही जगत शुरू हो जाता है जैसे कि किसी आदमी के मकान में एक छोटा सा छेद हो वो खुल जाए और आकाश दिखाई पड़ने लगे और जब तक वो छेद न खुला हो तो आकाश दिखाई ना पड़ रहा हो करीब करीब हमारी दोनों के आंखों के बीच में जो भ्रूमध्य जगह है वहां से वो छेद है जहां से हम इस लोक के बाहर देखना शुरू कर देते हैं एक बात तय थी कि जब भी रामानुजम को कुछ ऐसा होता था तो उसकी दोनों पुतलियां चढ़ जाती थी हार्डी नहीं समझ पाया पश्चिम के गणितज्ञ नहीं समझ पाए और अभी गणितज्ञ आगे भी नहीं समझ पाएंगे एक दूसरी घटना और और तब मैं आपको तिलक के संबंध में कुछ कहूं तब आपकी समझ में आना आसान होगा क्योंकि तिलक का संबंध उस तीसरी आंख से है उन्नीस में एक आदमी मरा अमेरिका में एडगर कायसी चालीस साल पहले 1905 में वो बीमार पड़ा और बेहोश हो गया और तीन दिन कोमा में पड़ा रहा चिकित्सकों ने आशा छोड़ दी और चिकित्सकों ने कहा कि हमें इसे कोमा के बाहर बेहोशी के बाहर लाने का कोई उपाय नहीं सोचता और बेहोशी इतनी गहन है कि अब यह शायद ही वापस लौट सके तीसरे दिन सारी आशा छोड़ दी गई सब दवाइयां सब इलाज कर लिए गए लेकिन होश का कोई लक्षण नहीं था तीसरे दिन शाम को चिकित्सकों ने कहा कि अब हम विदा होते हैं क्योंकि अब हमारे बस के बाहर है एक चार छह घंटे में युवक मर जाएगा और अगर बच गया तो सदा के लिए पागल हो जाएगा जो कि मरने से भी बुरा सिद्ध होगा क्योंकि इतनी देर में इसके मस्तिष्क के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो विसर्जित हो रहे हैं डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं अचानक चिकित्सक हैरान हुए वो जो बेहोश कायसी पड़ा था बोला वो बेहोश था तीन दिन से वो बोला जैसे कि कोई गहरी नींद से अचानक बोल उठे हैरानी और ज्यादा हो गई क्योंकि उसका कोमा जारी था उसका शरीर अभी भी पूरी तरह कोमा में था उसके हाथ में आप छुरी भी भोंक दें तो पता नहीं चलती थी लेकिन वाणी आ गई और कायसी ने कहा कि शीघ्रता करो मैं एक वृक्ष से गिर पड़ा था और मेरी रीढ़ में पीछे चोट लग गई है और उसी चोट के कारण मैं बेहोश हूं और अगर छह घंटे मुझे ठीक नहीं किया गया तो बीमारी का जहर मेरे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा फिर फिर मेरा जिंदा बचने का कोई अर्थ नहीं और इस इस नाम की जड़ी बूटियां ले आओ और उनको इस तरह से तैयार करके मुझे पिला दो मैं बारह घंटे के भीतर ठीक हो जाऊंगा और कायसी फिर बेहोश हो गए जो नाम उसने लिए थे जड़ी बूटियों के आशा भी नहीं हो सकती थी कि कायसी को उनका पता हो क्योंकि वो कोई चिकित्सा से उसका कभी कोई संबंध नहीं था चिकित्सकों ने कहा और तो करने का कोई उपाय नहीं है ये निपट पागलपन मालूम पड़ता है क्योंकि ये जड़ी बूटियां इस तरह का काम करेंगी ये हमको भी पता नहीं लेकिन जब कोई उपाय ना हो तो हर्ज कुछ भी नहीं वे जड़ी बूटियां खोजी गई जैसा बताया था कायसी ने वैसा बना के उसे दिया गया बारह घंटे में वो होश में आ गया और बिल्कुल ठीक हो गए और होश में आके वो ना बता सका कि उसने ऐसी कोई बात कही थी या ये दवाइयों के नाम भी ना पहचान सका वो जो जड़ी बूटियां उसने कही थी कि मैं इनके नाम भी पहचानता हूं उसने कहा ये हो ही कैसे सकता है मुझे तो कुछ पता नहीं और तब एक बहुत अनूठी घटना की शुरुआत हुई फिर तो कायसी इसमें कुशल हो गया और उसने अमेरिका में तीस हजार लोगों को अपने पूरे जीवन में ठीक किया और जो भी निदान उसने किया वो सदा ठीक निकला और जो मरीज उससे निदान लिया वो सदा ठीक हुआ निरपवाद रूप से लेकिन कायसी खुद भी नहीं समझा सकता था कि उसे होता क्या है इतना ही कह सकता था कि जब भी मैं आंख बंद करता हूं कोई निदान खोजने के लिए मेरी दोनों आंखें ऊपर चढ़ जाती मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी पुतलियों को ऊपर खींचे जा रहा और फिर मेरी दोनों आंखें भ्रू मध्य में ठहर जाती हैं और तब मैं इस लोक को भूल जाता फिर मुझे पता नहीं क्या होता है इसे मैं भूलता हूं इसका मुझे पता है दूसरा क्या होता है उसका मुझे कोई पता नहीं लेकिन जब तक मैं इसको नहीं भूल जाता तब तक वो जो निदान मैं देता हूं वो नहीं आता है निदान उसने ऐसे ऐसे दिए कि एक दो निदान सोच लेने जैसे रथ रथशाइल अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति परिवार है उसकी एक महिला बीमार थी और कोई इलाज नहीं बचा था सब इलाज हो गए थे फिर कायसी के पास उसको लाया गया कायसी ने एक दवा का नाम दिया अपनी बेहोशी में हमारी तरफ से हम कहेंगे बेहोशी जो जानते हैं उनकी तरफ से तो वो हमसे बड़े होश में है जो जानते हैं उनके लिहाज से तो हम बेहोश हैं सच तो यह है कि जब तक तीसरी आंख तक ज्ञान न पहुंचे तब तक बेहोशी जारी रहती है पर हमारी तरफ से कायसी ने आंख बंद की वो बेहोश हुआ और उसने एक दवा का नाम बताया चाइल तो अरबपति परिवार था सारी अमेरिका में खोजबीन की गई वो दवा कहीं मिली नहीं कोई यह भी ना बता सका कि इस तरह की कोई दवा है भी फिर सारी दुनिया के अखबारों में विज्ञापन दिया गया कि कहीं से भी इस नाम की दवा कोई 20 दिन बाद स्वीडन से एक आदमी ने जवाब दिया कि इस नाम की दवा है नहीं 20 साल पहले मेरे पिता ने इस नाम की दवा पेटेंट करवाई थी लेकिन फिर कभी बनाई नहीं वो सिर्फ पेटेंट है कभी बाजार में आई नहीं दवा भी हमारे पास नहीं पिता मर चुके हैं और वो वो कभी प्रयोग सफल हुआ नहीं सिर्फ फार्मूला हमारे पास है वो हम पहुंचा देते वो फार्मूला पहुंचाया गया वो दवा बनी और वो स्त्री ठीक हो गई लेकिन वो दवा कहीं थी नहीं दुनिया के बाजार में कि जिसका कायसी को पता हो सके तो दूसरे एक घटना में उसने एक दवा का नाम लिया बहुत खोजबीन की गई वो दवा नहीं मिल सकी साल भर बाद अखबारों में उस दवा का विज्ञापन निकला वो दवा उस वक्त बन रही थी किसी प्रयोगशाला में जब उसने कहा था तब तक उसका नाम भी तय नहीं हुआ था पर जो नाम उसने साल भर पहले दिया था उस नाम की दवा साल भर बाद बाहर आई और उसी दवा से वो मरीज ठीक हुआ और कई बार तो उसने दवाएं बताई जो खोजी नहीं जा सकी और मरीज मर गए वो भी कहता था मैं कुछ कर नहीं सकता मेरे हाथ की बात नहीं मुझे पता नहीं कि जब मैं बेहोश होता हूं तब कौन बोलता है कौन देखता है मुझे कुछ पता नहीं मुझ में और उस व्यक्तित्व में कोई भी संबंध नहीं पर एक बात तय थी कि कायसी जब भी बोलता तब उसकी दोनों आंखें चढ़ गई होती आप भी जब गहरी नींद में सोते हैं तो आपकी दोनों आंखें जितनी गहरी नींद होती उतनी ऊपर चली जाती अब अभी तो बहुत से मनोवैज्ञानिक नींद पर बहुत से प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी आंख की पुतली कितने ऊपर गई है इससे तय किया जाता है कि आप कितनी गहरी नींद में जितनी आंख की पुतली नीचे होती है उतनी गतिमान होती है ज्यादा मूवमेंट होता है और आंख की पुतली में जितनी गति होती है उतनी तेजी से आप सपना देख रहे होते हैं यह सब सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक परीक्षणों से उसको वैज्ञानिक कहते हैं R E M REM rapid eye movement तो रैम की कितनी मात्रा है उससे तय होता है कि आप कितनी गति का सपना देख रहे हैं और आंख की पुतली जितने नीचे होती रैम की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती जितनी ऊपर चढ़ने लगती रैम वो जो आंख की तीव्र गति है पुतलियों की वो कम होने लगती है और जब बिल्कुल फिर हो जाती है आंख वहां जाके जहां की दोनों आंखें मध्य में देखती हैं ऐसी प्रतीत होती हैं वहां जाके रैम बिल्कुल ही बंद हो जाता है बिल्कुल पुतली में कोई तरह की गति नहीं रह जाती वो जो अगति है पुतली की वही गहन से गहन निद्रा है योग कहता है कि गहरी सुसुप्ति में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां समाधि में फर्क इतना ही होता है कि सुसुप्ति में हमें पता नहीं होता समाधि में हमें पता होता है गहरी सुसुप्ति में आंख जहां ठहरती है वहीं गहरी समाधि में भी ठहरती है ये दोनों घटनाएं मैंने आपसे कहीं ये इंगित करने को कि आपकी दोनों आंखों के बीच में एक बिंदु है जहां से यह संसार नीचे छूट जाता है और दूसरा संसार शुरू होता है वो बिंदु द्वार है उसके इस पार जिस जगत से हम परिचित हैं वो है उसके उस पार एक अपरिचित और अलौकिक जगत है इस अलौकिक जगत के प्रतीक की तरह सबसे पहले तिलक खोजा गया तो तिलक हर कहीं लगा देने की बात नहीं है वो तो जो व्यक्ति हाथ रख के आपका बिंदु खोज सकता है वही आपको बता सकता है कि तिलक कहां लगाना है हर कहीं तिलक लगा लेने से कोई मतलब नहीं कोई प्रयोजन नहीं फिर प्रत्येक व्यक्ति का बिंदु भी एक ही जगह नहीं होता ये जो दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख है ये प्रत्येक व्यक्ति की बिल्कुल एक जगह नहीं होती अंदाजन दोनों आंखों के बीच में ऊपर होती है पर फर्क होते हैं अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बहुत साधना की है और समाधि के छोटे मोटे अनुभव पाए हैं तो उसी हिसाब से वो बिंदु नीचे आता जाता है अगर इस तरह की कोई साधना नहीं की है तो वो बिंदु काफी ऊपर होता है उस बिंदु की अनुभूति से यह भी जाना जा सकता है कि आपके पिछले जन्मों की साधना कुछ है समाधि की दिशा में आपने तीसरी आंख से कभी दुनिया को देखा है कभी भी आपके किसी जन्म में ऐसी कोई घटना घटी है तो आपका वो बिंदु उसका स्थान बताएगा कि ऐसी घटना घटी है नहीं घटी है अगर ऐसी घटना बहुत घटी है तो वो बिंदु बहुत नीचे आ जाएगा वो करीब करीब दोनों आंखों के समतुल भी आ जाता है उससे नीचे नहीं आ सकता और अगर बिल्कुल समतुल बिंदु हो दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में आ गया हो तो जरा से इशारे से आप समाधि में प्रवेश कर सकते इतने छोटे इशारे से कि जिसको हम कह सकते हैं इशारा बिल्कुल असंगत इसलिए बहुत दफे जब कुछ लोग बिल्कुल ही अकारण समाधि में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें लगता है बड़ी अजीब सी बात मालूम पड़ती जैसे कि जैन साध्वी का के जीवन में कथा है लौटती थी कुएं से पानी भर के घड़ा गिर गया और घड़े के गिरने के साथ समाधि लग गई और पूर्ण ज्ञान उपलब्ध हुआ बिल्कुल फिजूल की बात है घड़े का गिरना या घड़े का फूट जाना या समाधि का लगना कोई संगति नहीं है लाउस के जीवन में उल्लेख है कि वृक्ष के नीचे बैठा था पतझड़ के दिन थे और वृक्ष से पत्ते नीचे गिरने लगे और लाओ से परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया अब वृक्ष से गिरते हुए पत्थर का कोई भी तो संबंध नहीं कोई भी संबंध नहीं लेकिन यह घटना तब घट सकती है जबकि पिछले जन्मों में यात्रा इतनी हो चुकी हो कि वो तीसरा बिंदु दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में आ गया हो तब यह घटना घट सकती है क्योंकि शायद आखिरी तिनके की जरूरत है और तराजू बैठ जाए आखिरी तिनका कोई भी चीज बन सकती है तो पुराने दिनों में जब भी दीक्षा दी जाती है और दीक्षा वही दे सकता है जो आपकी समस्त जन्मों की सार संपदा क्या है उसे समझ पाता हो अन्यथा नहीं दे सकता अंथा देने का कोई मतलब नहीं क्योंकि जहां तक आप पहुंच गए हैं उसके आगे यात्रा करनी है तो वो जो तिलक है अगर ठीक ठीक लगाया जाए तो वो कई अर्थों का सूचक था वो सारे अर्थ समझने पड़ेंगे पहला तो वो इस बात का सूचक था कि जब एक बार गुरु ने बता दिया कि तिलक यहां लगाना है ठीक जगह और आपको भी जब उस ठीक जगह का अनुभव होने लगा क्योंकि तिलक लगाने का पहला प्रयोजन यही है आपने कभी ख्याल ना किया होगा अगर आप आंख बंद करके भी बैठ जाएं और कोई व्यक्ति आपकी बंद आंख में भी आपकी दोनों आंखों के बीच में सिर के पास उंगली को कर ले तो बंद आंख में भी आपको भीतर एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कोई आंख की तरफ उंगली किए हुए है वो तीसरी आंख की प्रतीति है तो अगर ठीक तीसरी आंख पर तिलक लगा दिया जाए और उसी मात्रा का उतने ही अनुपात का तिलक लगा दिया जाए जितनी बड़ी तीस, तीसरे आंख की स्थिति है तो आपको पूरे शरीर को छोड़ के उसी का स्मरण 24 घंटे रहने लगेगा वो स्मरण पहला तो ये काम करेगा कि आपका शरीर बोध कम होता जाएगा और तिलक बोध बढ़ता जाएगा एक क्षण ऐसा आ जाता है जबकि पूरे शरीर में सिर्फ तिलक ही स्मरण रह जाता है बाकी सारा शरीर भूल जाता है और जिस दिन ऐसा हो जाए उसी दिन आप उस आंख को खोलने में समर्थ हो सकते हैं तो तिलक के साथ जुड़ी हुई साधनाएं थी कि पूरे शरीर को भूल जाओ सिर्फ तिलक मात्र की जगह याद रह जाए उसका अर्थ यह हुआ कि सारी चेतना सिकुड़कर फोकस्ड हो जाए तीसरी आंख पर और तीसरी आंख के खोलने की जो कुंजी है वो फोकस्ड कॉन्सियसनेस है उस पर चेतना पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाए सारे शरीर से सिकुड़ के उस छोटे से स्थान पर लग जाए बस उसकी मौजूदगी से काम हो जाएगा जैसे कि हम सूरज की किरणों को एक छोटे से लेंस के द्वारा एक कागज पर गिरा लें इकट्ठी हो गई किरणें आग पैदा कर देंगी वही किरणें सिर्फ धूप पैदा कर रही थी उनसे आग पैदा नहीं होती थी वही किरणें आग पैदा कर सकती हैं संग्रहित चेतना शरीर पर बटी रहती है तो सिर्फ जीवन का काम चलाओ उपयोग उससे होता है चेतना अगर तीसरे नेत्र के पास पूरी इकट्ठी हो जाए तो वो जो तीसरे नेत्र में बाधा है वो जो द्वार है जो बंदपन है वो टूट जाता है जल जाता है राख हो जाता है और हम उस आकाश को देखने में समर्थ हो जाते हैं जो हमारे ऊपर फैला है तो तिलक का पहला उपयोग तो यह था कि आपको ठीक ठीक जगह बता दी जाए शरीर में कि 24 घंटे इस जगह का स्मरण रखना है सब तरफ से चेतना को सिकोड़ के इस जगह ले आना है एक और दूसरा यह था प्रयोग कि गुरु को रोज रोज देखने की जरूरत ना पड़े रोज आपके माथे पर हाथ रखने की भी जरूरत ना पड़े क्योंकि जैसे जैसे वो बिंदु नीचे सरकेगा वैसे वैसे आपको एहसास होगा और आपके तिलक को भी नीचे होते जाना है आप रोज तिलक लगाते वक्त ठीक वहीं तिलक लगाना है जहां वो बिंदु आपको एहसास होता है तो हजार शिष्य एक गुरु के वो शिष्य आता है झुकता है तभी वो देख लेता है कि तिलक कहां है इसकी बात करने की जरूरत नहीं रह जाती वो देख लेता है कि तिलक नीचे सरक रहा है नहीं सरक रहा है तिलक उसी जगह है कि तिलक में कोई अंतर पड़ रहा है वो कोड दिन में दो चार दफे शिष्य आएगा और वो देख पाएगा कि तिलक रोज सुबह शिष्य उसके चरण छूने आएगा वो देख पाएगा कि वो तिलक गतिमान है वो आगे गति कर रहा है रुका हुआ है ठहरा हुआ है और किसी दिन वो शिष्य के माथे पर हाथ रख के पुनः देख पाएगा अगर शिष्य को पता नहीं चल रहा है हटने का तो उसका मतलब है कि चेतना पूरी की पूरी इकट्ठी नहीं की जा रही अगर वो तिलक गलत जगह लगाए हुए है और बिंदु दूसरी जगह है तो उसका मतलब है कि उसकी कॉन्सियसनेस उसकी रिमेंबरिंग उसकी स्मृति ठीक बिंदु को नहीं पकड़ पा रही वो भी उसे पता चल जाए जैसे जैसे ये तिलक नीचे आता जाएगा वैसे वैसे प्रयोग बदलने पड़ेंगे साधना के ये करीब करीब वैसा ही काम करेगा जैसा कि अस्पताल में डॉक्टर मरीज के पास लटका हुआ चार्ट काम करता है वो नर्स आके देख के चार्ट पर लिख जाती है कितना है ताप कितना है ब्लड प्रेशर क्या है क्या नहीं है और डॉक्टर को आके देखने की जरूरत नहीं होती वो चार्ट पे एक क्षण नजर डाल लेता है बात पूरी हो जाती पर इससे भी अद्भुत था ये प्रयोग के माथे पर पूरा का पूरा इंगित लगा था ये सब तरह की खबर देता और अगर ये ठीक ठीक इस पर प्रयोग किया जाता तो गुरु को पूछने की कभी जरूरत ना पड़ती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जानता है कि क्या हो रहा है और क्या सहायता पहुंचानी है वो भी जानता है क्या प्रयोग बदलना है कौन सी विधि रूपांतरित करनी है वो भी जानता है एक तो साधना की दृष्टि से तिलक का ऐसा मूल्य था दूसरा जो हमारी तीसरी आंख का बिंदु है वो हमारे संकल्प का भी बिंदु है उसको योग में आज्ञा चक्र कहते हैं आज्ञा चक्र इसीलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अनुशासन है वो उसी चक्र से पैदा होता है हमारे जीवन में जो भी व्यवस्था है जो भी ऑर्डर है जो भी संगति वो उसी बिंदु से पैदा होती इसे ऐसा समझें हम सबके शरीर में सेक्स का सेंटर है सेक्स से समझना आसान पड़ जाएगा क्योंकि वो हम सबका परिचित है ये आज्ञा का चक्र तो हम सबका परिचित नहीं हमारे जीवन की सारी वासना और कामना सेक्स के चक्र से पैदा होती जब तक वो चक्र सक्रिय नहीं होता है तब तक काम वासना पैदा नहीं होती काम वासना लेके बच्चा पैदा होता है काम वासना का पूरा यंत्र लेके पैदा होता है कोई कमी नहीं होती कुछ मामले में तो बहुत हैरानी की बात स्त्रियां तो अपने जीवन के सारे रजकण भी लेके पैदा होती हैं फिर कोई नया रचकण पैदा नहीं होता प्रत्येक स्त्री कितने बच्चों को जन्म दे सकती है वो सबके अंडे लेके पैदा होती करोड़ों पहले दिन की बच्ची भी जब मां के पेट से पैदा होती है तो अपने जीवन के समस्त अंडों की संख्या अपने भीतर लिए हुए पैदा होती हर महीना एक अंडा उसके कोष से निकल के सक्रिय हो जाए अगर वो अंडा पुरुष वीर से मिल जाए संयुक्त हो जाए तो बच्चे का जन्म हो जाए एक भी नया अंडा स्त्री में पैदा नहीं होता सारे अंडे लेकर पैदा होते लेकिन फिर भी काम वासना नहीं पैदा होती तब तक जब तक कि काम वासना का चक्र शुरू ना हो जाए वो चक्र जब तक अगति में पड़ा है ठहरा हुआ है तब तक काम का पूरा यंत्र है काम की पूरी आयोजना है शरीर के पास काम की पूरी शक्ति है लेकिन फिर भी काम वासना पैदा नहीं होगी काम वासना पैदा होगी जैसे ही काम का सेंटर गतिमान हो गत्यात्मक होगा चौदह वर्ष की उम्र में या तेरह वर्ष की उम्र में वो गतिमान हो जाएगा गतिमान होते से जो यंत्र पड़ा था बंद बिल्कुल वो पूरी सक्रियता ले लेगा एक ही चक्र से आमतौर से हम परिचित हैं वो भी हम इसलिए परिचित हैं कि उसे हम शुरू नहीं करते उसे प्रकृति शुरू करती है अगर हमें ही उसे भी शुरू करना हो तो इस जगत में थोड़े से ही लोग काम वासना से परिचित हो पाएंगे वो तो प्रकृति शुरू करती है इसलिए हमें हमें पता चलता है कि वो है कभी आपने सोचा है जरा सा विचार वासना का और जन्नेन्द्री का पूरा यंत्र सक्रिय हो जाता है विचार चलता है मस्तिष्क में यंत्र होता है बहुत दूर कभी आपने सोचा है कि जरा सा काम वासना का मन में जरा सी झलक और तत्काल चक्र सक्रिय हो जाता है असल में आपके चित्त में काम वासना का कोई भी विचार उठे वो तत्काल जो सेक्स का सेंटर है उसे अपनी ओर खींच लेता है कहीं भी उठे शरीर में तत्काल वो अपने सेंटर पर चला जाएगा उसे जाना ही पड़ेगा उसे जाने की और कोई जगह नहीं जैसे पानी गड्ढे में चला जाता है ऐसा प्रत्येक संबंधित विचार अपने चक्र पर चला जाता है दोनों आंखों के बीच में जो तीसरे नेत्र की मैं बात कर रहा हूं वही जगह आज्ञा चक्र की है इस आज्ञा के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी जरूरी है जिन लोगों के जीवन में भी ये चक्र प्रारंभ नहीं होगा वो हजार तरह की गुलामियों में बंधे रहेंगे वो गुलाम ही रहेंगे इस चक्र के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है ये बहुत हैरानी की बात मालूम पड़ेगी क्योंकि हमने बहुत तरह की स्वतंत्रताएं सुनी हैं राजनीतिक आर्थिक कोई स्वतंत्रताएं वास्तविक नहीं है क्योंकि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं है वो किसी न किसी तरह की गुलामी में रहेगा एक गुलामी से छूटेगा दूसरी में पड़ेगा दूसरी से छूटेगा तीसरी में पड़ेगा वो गुलाम रहेगा ही उसके पास मालिक होने का तो अभी चक्र ही नहीं है जहां से मालकियत की किरणें पैदा होती हैं उसके पास संकल्प जैसी विल जैसी कोई चीज ही नहीं है वो अपने को आज्ञा दे सके ऐसी उसकी सामर्थ्य नहीं है बल्कि उसके शरीर और उसकी इंद्रियां ही उसको आज्ञा दिए चली जाती पेट कहता है भूख लगी तो उसको भूख लगती काम वासना का बिंदु कहता है वासना जगी तो उसे वासना जगती शरीर कहता है बीमार हूं तो वो बीमार हो जाता है शरीर कहता है बूढ़ा हो गया तो वो बूढ़ा हो जाता है शरीर आज्ञा देता है आदमी आज्ञा मान के चलता रहता है ये जो आज्ञा चक्र है इसके जगते ही शरीर आज्ञा देना बंद कर देता है और आज्ञा लेना शुरू करता है पूरा का पूरा आयोजन बदल जाता है और उल्टा हो जाता है वैसा आदमी अगर खून बहते हुए खून को कह दे कि रुक जाओ तो वो बहता हुआ खून रुक जाएगा वैसा आदमी कह दे हृदय की धड़कन को कि ठहर जा तो हृदय की धड़कन ठहर जाएगी वैसा आदमी कहे अपनी नब्ज से कि मत चल तो नब्ज चल ना सकेगी वैसा आदमी अपने शरीर अपने मन अपनी इंद्रियों का मालिक हो जाता है पर इस चक्र के बिना शुरू हुए मालिक नहीं होता इस चक्र का स्मरण जितना ज्यादा रहे उतनी ही ज्यादा आपके भीतर जिसको कहें स्वयं की मालकी पैदा होनी शुरू होती आप गुलाम की जगह मालिक बनना शुरू होते तो योग ने इस चक्र को जगाने के बहुत बहुत प्रयोग किए हैं उसमें तिलक भी एक प्रयोग है स्मरण पूर्वक अगर कोई 24 घंटे इस चक्र पर बार बार ध्यान को ले जाता रहे और एक तिलक लगा हुआ है तो बार बार ध्यान जाएगा तिलक के लगते ही वो स्थान पृथक हो गया और बहुत सेंसिटिव स्थान है अगर तिलक ठीक जगह लगा है तो आप हैरान होंगे कि आपको उसकी याद करनी ही पड़ेगी वो बहुत संवेदनशील जगह है संभवतः शरीर में सर्वाधिक संवेदनशील जगह है उसकी संवेदनशीलता को स्पर्श करना और वो भी खास चीजों से स्पर्श करने की बात थी जैसे चंदन का तिलक लगाना अभी सैकड़ों और हजारों प्रयोगों के बाद तय किया था कि चंदन का क्यों प्रयोग करना है एक तरह की रेजोनेंस है चंदन में और संवेदनशीलता में वो चंदन का तिलक उस बिंदु की संवेदनशीलता को और गहन और घना कर जाता है हर कोई तिलक नहीं कर जाए कुछ चीजों के तिलक तो उसकी संवेदनशीलता को मार देंगे बुरी तरह मार देंगे जैसे आज स्त्रियां टीका लगा रही हैं बहुत से बाजारू हैं वो उनकी कोई वैज्ञानिकता नहीं है उनका योग से कोई लेना देना नहीं है वो बाजारू टीके नुकसान करेंगे वो नुकसान करेंगे इसलिए कि वो सवाल यह है कि वो संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं अगर घटाते हैं संवेदनशीलता को तो नुकसान करेंगे अगर बढ़ाते हैं तो फायदा करेंगे और प्रत्येक चीज के अलग अलग परिणाम हैं इस जगत में छोटे से फर्क से सारा फर्क पड़ता है तो कुछ विशेष चीजें खोजी गई थी जिनका ही उपयोग किया जाए आज्ञा का चक्र संवेदनशील हो सके सक्रिय हो सके तो आपके व्यक्तित्व में गरिमा और इंटीग्रिटी आनी शुरू होती एक समग्रता पैदा होती एकजुट होती कोई चीज आप पर छुट्टी हो जाती खंड खंड नहीं अखंड हो जाती संबंध में टीके के लिए भी पूछा है तो वो भी ख्याल ले लेना चाहिए तिलक से थोड़ा हटकर टीके का प्रयोग शुरू हुआ विशेषकर स्त्रियों के लिए शुरू हुआ उसका कारण वही था लेकिन योग का ही अनुभव काम कर रहा था असल में स्त्रियों का आज्ञा चक्र बहुत कमजोर चक्र है होगा ही क्योंकि स्त्री का सारा व्यक्तित्व निर्मित किया गया समर्पण के लिए उसके सारे व्यक्तित्व की खूबी समर्पण आज्ञा चक्र अगर उसका बहुत मजबूत हो तो समर्पण करना मुश्किल हो जाए तो स्त्री के पास आज्ञा का चक्र बहुत कमजोर है असाधारण रूप से कमजोर है इसलिए स्त्री सदा ही किसी न किसी का सहारा मांगती रहेगी वो किसी रूप में हो अपने पर खड़े हो जाने के पूरा साहस न जुटा पाएगी कोई सहारा किसी के कंधे पर हाथ कोई आगे हो जाए कोई आज्ञा दे और वो मान ले इसमें उसे सुख मालूम पड़ेगा स्त्री के आज्ञा चक्र को सक्रिय बनाने की अकेली कोशिश इस मुल्क में हुई है और कहीं भी नहीं हुई है और वो कोशिश इसलिए थी कि अगर स्त्री का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं होता है तो परलोक में उसकी कोई गति नहीं हो सकती साधना में उसकी कोई गति नहीं हो सकती उसके आज्ञा चक्र को तो स्थिर रूप से मजबूत करने की जरूरत है लेकिन अगर यह आज्ञा चक्र साधारण रूप से मजबूत किया जाए तो उसके स्तरण होने में कमी पड़ेगी अगर यह साधारण रूप से आज्ञा चक्र मजबूत किया जाए तो उसमें पुरुषत्व के गुण आने शुरू हो जाएंगे और स्तरण होने में कमी पड़ेगी इसलिए इस टीके को अनिवार्य रूप से उसके पति से जोड़ने की चेष्टा की गई इसको जोड़ने का कारण है इस टीके को सीधा नहीं रख दिया गया उसके माथे पर नहीं तो उसमें स्त्रित्व कम होगा वो जितनी स्वनिर्भर होने लगेगी उतना ही उसकी जो स्त्री कौम, कौमारी है वो वो नष्ट होगा वो दूसरे का सहारा खोजती है इससे उसमें एक तरह की कोमलता है और जब वो अपने सहारे खड़ी होगी तो एक तरह की कठोरता अनिवार्य हो जाएगी तो बड़ी बारीकी से ख्याल किया गया उसके उसको सीधा टीका लगा दिया जाए तो उसके स्तरण तत्व में नुकसान पहुंचेगा उसके व्यक्तित्व में उसके मां होने में बाधा पड़ेगी उसके समर्पण में बाधा पड़ेगी इसलिए उसकी आज्ञा को उसके पति से ही जोड़ने का समग्र प्रयास किया गया इस तरह दोहरे फायदे होंगे उसके स्तरण होने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा वो अपने पति के प्रति ज्यादा अनुगत हो पाएगी और फिर भी उसकी आज्ञा का चक्र सक्रिय हो सकेगा इसे ऐसा समझे आज्ञा का चक्र जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत कभी नहीं जाता जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत कभी नहीं जाता चाहे गुरु से संबंधित कर दिया जाए तो गुरु के विपरीत कभी नहीं जाता चाहे पति से संबंधित कर दिया जाए तो पति से विपरीत कभी नहीं जाता आज्ञा चक्र जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत व्यक्तित्व नहीं जाता तो अगर एक स्त्री के माथे पर ठीक जगह पर टीका है तो वो सिर्फ पति के प्रति तो अनुगत हो सकेगी से सारे जगत के प्रति वो सबल हो जाएगी ये करीब करीब स्थिति वैसी है कि अगर आप सम्मोहन के संबंध में कुछ समझते हैं तो जल्दी समझ जाएं अगर आपने किसी सम्मोहक को लोगों को सम्मोहित करते हिप्नोटाइज करते देखा है तो आप एक चीज देख के जरूर ही चौंके होंगे और वो चीज ये कि अगर सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी को सम्मोहित कर दे कोई मैक्सकोलिया कोई भी या आप खुद किसी को सम्मोहित कर दें तो आपके सम्मोहित कर देने के बाद वो व्यक्ति किसी दूसरे की आवाज नहीं सुनेगा सिर्फ आपकी सुन सकेगा ये बहुत मजे की घटना घटती है सम्मोहित कर देने के बाद सारे हाल में यहां हजारों लोग चिल्लाते रहे बात करते रहे वो जो बेहोश पड़ा हुआ आदमी है वो सुनेगा नहीं लेकिन जिसने सम्मोहित किया है वो धीमे से भी बोले तो भी सुनेगा ये करीब करीब जो मैं आपको टीका समझा रहा हूं उससे जुड़ी हुई घटना है वो व्यक्ति जैसे ही सम्मोहित किया गया वैसे ही सम्मोहित करने वाले के प्रति ही सिर्फ उसकी ओपनिंग और खुलापन रह गया बाकी सबके लिए क्लोज हो गया आप उसको कुछ नहीं कह सकते आप उसके कान के पास कितना ही चिल्लाएं वो बिल्कुल नहीं सुनेगा नगाड़े बजाएं तो नहीं सुनेगा और जिसने सम्मोहित किया है वो धीमे से भी आवाज दे कि खड़े हो जाओ तो तत्काल खड़ा हो जाए उसकी चेतना में सिर्फ एक द्वार रह गया बाकी सब तरफ से बंद हो गई जिसने सम्मोहित किया है आज्ञा चक्र उससे बंध गया बाकी सब तरफ से बंद हो गया ठीक इसी सजेस्टिबिलिटी का इसी मंत्र का उपयोग स्त्री के टीके में किया गया है उसको उसके पति के साथ जोड़ देना है वो एक ही तरफ उसका अनुगत भाव रह जाएगा एक तरफ वो समर्पित हो पाएगी उससे सारे जगत के प्रति वो मुक्त और स्वतंत्र हो जाएगी तो उसके स्त्री होने पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी और इसलिए जैसे ही पति मर जाए टीका हटा देना है जैसे ही पति मर जाए टीका हटा देना वो इसलिए हटा देना है कि अब किसी के प्रति भी अनुगत होने का कोई सवाल नहीं रहा लोगों को ख्याल नहीं है उनको तो ख्याल है कि टीका पहुंच दिया क्योंकि विधवा हो गई स्त्री पहुंचने का प्रयोजन है अब उसको अनुगत होने का कोई सवाल नहीं रहा सच तो यह है कि अब उसको पुरुष की भांति ही जीना पड़ेगा अब उसमें जितनी स्वतंत्रता आ जाए उतने उसके जीवन के लिए हितकर होगी एक जरा सा भी छिद्र वलनरेबिलिटी का एक जरा सा भी छेद जहां से वो अनुगत हो सके वो हट जाए टीके का प्रयोग एक बहुत ही गहरा प्रयोग है लेकिन ठीक जगह पर हो ठीक वस्तु का हो ठीक नियोजित ढंग से लगाया गया हो अन्यथा बेमानी है सजावट हो कि श्रृंगार हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं है तब वो सिर्फ तब वो सिर्फ एक औपचारिक घटना है इसलिए पहली बार जब टीका लगाया जाए तो उसका पूरा अनुष्ठान है और पहली दफे जब गुरु तिलक दे तब उसका पूरा अनुष्ठान है उस पूरे अनुष्ठान से ही लगाया जाए तो ही परिणामकारी होगा अन्यथा परिणामकारी नहीं होगा आज सारी चीजें हमें व्यर्थ मालूम पड़ने लगी उसका कारण है आज तो व्यर्थ हैं आज व्यर्थ हैं क्योंकि उनके पीछे का कोई भी वैज्ञानिक रूप नहीं है सिर्फ ऊपरी खोल रह गई जिसको हम घसीट रहे हैं जिसको हम खींच रहे हैं बेमन से जिसके पीछे मन का भी कोई लगाव नहीं रह गया है आत्मा का कोई भाव नहीं रह गया है और उसके पीछे की पूरी वैज्ञानिकता का कोई सूत्र भी मौजूद नहीं है यह जो आज्ञा चक्र है इस संबंध में दो तीन बातें और समझ लेनी चाहिए क्योंकि यह काम पड़ सकता है इसका उपयोग किया जा सकता है इस चक्र की जो रेखा है आज्ञा चक्र की इस रेखा से ही जुड़ा हुआ हमारे मस्तिष्क का वो भाग है इससे ही हमारा मस्तिष्क शुरू होता है लेकिन अभी भी हमारे मस्तिष्क का आधा हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है साधारण था हमारा जो प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है जिसको हम जीनियस कहें उसका भी केवल आधा ही मस्तिष्क काम करता है आधा तो काम नहीं करता और वैज्ञानिक बहुत परेशान है फिजियोलॉजिस्ट बहुत परेशान है कि ये आधी खोपड़ी का जो हिस्सा है ये किसी भी काम नहीं आता है अगर आपके आधे हिस्से को काट के निकाल दिया जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई चीज कमी हो गई क्योंकि उसका तो कभी कोई उपयोग ही नहीं हुआ है वो ना होने के बराबर है लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि प्रकृति कोई भी चीज व्यर्थ निर्मित नहीं करती भूल होती हो एक आध आदमी के साथ हो सकती है इन निरंतर हर आदमी के साथ आधा मस्तिष्क खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है उसमें कभी कोई चहल पहल भी नहीं हुई योग का कहना है कि वो जो आधा मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के चलने के बाद शुरू होता है आधा जो मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के नीचे के चक्रों से जुड़ा हुआ है और आधा जो मस्तिष्क है वो आज्ञा चक्र के ऊपर के चक्रों से जुड़ा हुआ है नीचे के चक्र शुरू होते हैं तो आधा मस्तिष्क काम करता रहता है और जब आज्ञा के ऊपर काम शुरू होता है तब शेष आधा मस्तिष्क काम शुरू करता है इस संबंध में हमें ख्याल भी नहीं आता जब तक कोई चीज सक्रिय ना हो जाए हम सोच भी नहीं सकते सोचने का भी कोई उपाय नहीं जब कोई चीज सक्रिय होती तभी हमें पता चलता है स्वीडन में एक आदमी गिर पड़ा ट्रेन से और गिरने के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती किया गया तो उसे 10 मील के भीतर की आसपास की रेडियो की आवाजें पकड़ने लगी उसके कान में पहले तो वो समझा कि उसका दिमाग कुछ खराब हो रहा है पहले तो साफ भी नहीं था गुनगुनाहट मालूम होती थी लेकिन दो तीन दिन में ही चीजें साफ होने लगी तब उसने घबरा के डॉक्टर को कहा कि यह मामला क्या है मुझे तो ऐसा सुनाई पड़ता है जैसे कि कोई रेडियो मेरे कान के पास लगाए हुए यहां तो कोई लगाए हुए नहीं डॉक्टर ने पूछा तुम्हें क्या सुनाई पड़ रहा है तो उसने जो गीत की कड़ी बताई वो डॉक्टर अभी अपने रेडियो से सुन के आ रहा था उसने कहा ये मुझे अभी थोड़ी देर पहले सुनाई पड़ी और फिर तो स्टेशन बंद हो गया टाइम बता के कि इतना टाइम तब तो रेडियो लाके लगा के जांच पड़ताल की गई और पाया गया कि उसके आदमी का कान ठीक रेडियो की तरह रिसेप्टिव का काम कर रहा है उतना ही ग्राहक हो गया ऑपरेशन करना पड़ा वो तो आदमी पागल हो जाए क्योंकि आन ऑफ का तो कोई उपाय नहीं था वो 24 घंटे चल रहा था जब तक स्टेशन चलेगा तब तक वो आदमी चल रहा था लेकिन एक बात जाहिर हो गई कि ये भी कान की संभावना हो सकती है और यह भी तय हो गया उसी दिन कि इस सदी के पूरे होते होते हम कान का ही उपयोग करेंगे रेडियो के लिए इतने इतने बड़े यंत्रों को बनाने की ढोने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी लेकिन तब एक छोटी सी व्यवस्था जो कान पर लगाई जा सके और जिससे ऑन ऑफ किया जा सके पर्याप्त होगा सिर्फ ऑन ऑफ किया जा सके उतनी व्यवस्था पर उस आदमी की आकस्मिक घटना से यह ख्याल पकड़ा बिल्कुल आकस्मिक इस जगत में जो जो नई घटनाएं घटती हैं या नए दृष्टिकोण कौन खुलते हैं वो हमेशा एक्सीडेंटल और आकस्मिक होते हैं क्योंकि हम पिछले ज्ञान से तो उनका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते अब हम कभी सोच ही नहीं सकते कि कान भी कभी रेडियो का काम कर सकता है लेकिन क्यों नहीं कर सकता है कान सुनने का काम करता है रेडियो सुनने का काम करता है कान रिसेप्टिविटी है पूरी रेडियो रिसेप्टिविटी है सच तो यह है कि रेडियो कान के ही आधार पर निर्मित है मॉडल का काम तो कान ने ही किया है कान की और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं ये जब तक अचानक उद्घाटित ना हो जाए पता भी ठीक वैसी घटना दूसरे महायुद्ध में घटी आदमी को घायल हुआ बेहोश हुआ और जब होश में आया तो उसे दिन में आकाश के तारे दिखाई पड़ने लगे तारे तो दिन में होते ही हैं तारे तो कहीं चले नहीं जाते तारे तो आकाश में होते ही हैं सिर्फ सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई पड़ने बंद हो जाते सूरज की रोशनी बीच में आ जाती है तारे पीछे पड़ जाते हैं सूरज तारे बहुत दूर हैं उनकी टिमटिमाती रोशनी खो जाती है यद्यपि वे सूरज से छोटे नहीं उनमें तो कोई सूरज से हजार गुना बड़ा है कोई दस हजार गुना बड़ा है कोई लाख गुना बड़ा है पर फासला बहुत है सूरज से किरण हम तक आती है तो उसको नौ मिनट लगते हैं और जो सबसे करीब का तारा है उससे जो किरण आती है उसको चालीस साल लगते हैं फासला बहुत है नौ मिनट और चालीस साल और किरण बहुत तेज चलती है एक लाख छियासी हजार मील चलती है एक सेकंड में सूरज से पहुंचने में नौ मिनट लगते हैं निकटतम तारे से पहुंचने में चालीस साल लगते हैं और ऐसे तारे हैं कि जिनसे चार हजार साल भी लगते हैं चार लाख साल भी लगते हैं चार करोड़ साल भी लगते हैं चार अरब साल भी लगते हैं चार अरब साल के ऊपर का हम हिसाब नहीं रख सकते क्योंकि हमारी पृथ्वी को बने चार अरब साल हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हमारी पृथ्वी नहीं बनी थी तब जो किरणें चली होंगी एक दिन जब हमारी पृथ्वी समाप्त हो चुकी होगी तब पार होंगी उन किरणों को कभी पता नहीं चलेगा कि बीच में ये पृथ्वी के होने की घटना घट गट गई जब पृथ्वी नहीं थी तब वो चली और जब पृथ्वी नहीं हो चुकी होगी तब वो पार हो जाएगी उनको कभी पता नहीं चलेगा उन किरणों पर अगर कोई यात्री सवार होकर चले तो पृथ्वी कभी थी इसका कोई भी पता नहीं दिन में वे तारे हैं अपनी जगह है उस आदमी को दिखाई पड़ने शुरू हो गए उसकी आंख को क्या हो गया उसकी आंख ने एक नया नया सिलसिला शुरू किया ऑपरेशन करना पड़ा उसकी आंख का क्योंकि वो आदमी सामान्य नहीं रह गया वो आदमी बेचैनी में पड़ गया वो आदमी कठिनाई में पड़ गया पर एक बात साफ हुई कि आंख दिन में भी तारों को देख सकती है अगर आंख दिन में भी तारों को देख सकती है तो आंख की बहुत सी संभावनाएं हैं जो सुप्त पड़ी हमारी प्रत्येक इंद्री की बहुत सी संभावनाएं जो सुप्त पड़ी इस जगत में जो हमें चमत्कार दिखाई पड़ते हैं वो सुप्त पड़ी संभावनाओं का कहीं से टूट पड़ना है बस कोई सुप्त संभावना कहीं से प्रकट हो जाती है हम चमत्कृत हो जाते वो मेरेकल नहीं है उतना ही चमत्कार हमारे भीतर भी दबा पड़ा है पर अप्रगट है वो प्रकट नहीं हो पा रहा है वो खुल नहीं पा रहा है कहीं कोई दरवाजे पर ताला पड़ा है वो नहीं टूट पा रहा है योग की दृष्टि और योग की दृष्टि कोई कोई एक दो दिन वर्ष दो वर्ष की धारणा की नहीं है कम से कम बीस हजार साल से योग की यह परिपुष्ट दृष्टि है विज्ञान की किसी दृष्टि पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता बहुत क्योंकि जो विज्ञान छह महीने पहले कह रहा था छह महीने बाद बदलेगा लेकिन योग की एक परिपुष्ट दृष्टि है जो बीस हजार कम से कम क्योंकि हम जिस सभ्यता में रह रहे हैं वो सभ्यता किसी भी हालत में बीस हजार साल से पुरानी नहीं यद्यपि यह हमारा भ्रम है कि हमारी सभ्यता पृथ्वी पर पहली सभ्यता है हमसे पहले सभ्यताएं हो चुकी और नष्ट हो चुकी और हमसे पहले आदमी करीब करीब हमारी ही ऊंचाइयों पर और कभी कभी हमसे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गया और खो गया 1924 में एक घटना घटी 1924 में जर्मनी में जो पहला अणु विज्ञान की संबंध में जो शोध का पहला संस्थान निर्मित हुआ अचानक एक दिन सुबह एक आदमी जिसने अपना नाम फल का नैली बताया एक कागज लिख के वहां दे गया और कागज में एक छोटी सी सूचना दे गया कि मुझे कुछ बातें ज्ञात हैं और कुछ और लोगों को ज्ञात हैं जिनके आधार पर मैं ये खबर देता हूं कि अणु के साथ खोज में मत पड़ना क्योंकि हमारी सभ्यता के पहले और भी सभ्यताएं इस खोज में पड़ के नष्ट हो चुकी हैं इस, इस खोज को बंद ही कर देना बहुत खोजबीन की गई उस आदमी का कुछ पता ना चला 1940 में हेजनबर्ग एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जर्मनी का जिसने कि सब बड़े से बड़ा काम अणु की खोज में लगाया उस आदमी के घर फिर एक आदमी उपस्थित हुआ जिसने फिर उसे एक चिट्ठी दी उसमें भी फल का नली कई दस्तखत थे वो नौकर को चिट्ठी देकर बाहर ही चला गया उस चिट्ठी पर उसने हेजनबर्ग को सूचना दी थी कि तुम पापी होने का जुम्मा मत लो क्योंकि ये सभ्यता पहली नहीं है जो कि अणु के साथ उपद्रव में पड़ी हो इसके पहले बहुत बार सभ्यताएं अणु के साथ खेल में पड़ी और नष्ट हुई मगर फिर भी उस आदमी का कोई पता नहीं चल सका और 1945 में जब पहली दफा हिरोशिमा पर एटम गिरा तो दुनिया के 12 बड़े वैज्ञानिकों को जिनका कि हाथ था एटम के बनाने में फलकनेली के दस्तखत से पत्र मिले जिसमें उसने कहा था कि देखो अभी भी रुक जाओ हालांकि तुमने पहला कदम उठा लिया और पहला कदम उठाने के बाद आखिरी कदम बहुत दूर नहीं रहता ओपिन हीमर जो अमेरिका का सबसे बड़ा अणुशास्त्री था जिसने कि अणु बनाने में बड़े से बड़ा भाग बताया उसने तत्काल उस पत्र के मिलते से अणु आयोग से इस्तीफा दिया और उसने एक वक्तव्य दिया कि वी हैव सिंट हमने पाप किया और यह आदमी हर वक्त खबर देता रहा पर यह आदमी कौन है इसका कोई पता नहीं लग सका कि आदमी कौन है इस बात की पूरी संभावना है कि वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है अणु के साथ खिलवाड़ सभ्यताएं पहले भी कर चुकी हमने भी महाभारत में अणु के साथ खिलवाड़ कर लिया है और उसके साथ हम बर्बाद हुए असल में करीब करीब ऐसा है जैसे कि एक व्यक्ति बच्चा होता है जवान होता है और जवानी में वही भूलें करता है जो उसके बाप ने की थी हालांकि बाप बूढ़ा होकर उसको समझाता इन भूलों में मत पड़ना ये सब गड़बड़ लेकिन उसके बाप ने भी इस बूढ़े को समझाई थी यही बात और ऐसा नहीं है कि उस बूढ़े के बूढ़े के बाप को समझाने वाला बाप नहीं था उसने भी समझाया बाकी जवानी में वही भूल होती फिर बुढ़ापे में वही समझावट होती बच्चा होता है जवान होता है बूढ़ा होता है मरता है जैसे व्यक्ति एक चक्र में दौड़ के विदभीत हो जाता है ऐसे ही हर सभ्यता भी करीब करीब एक से स्टेप उठा के नष्ट होती है सभ्यताएं भी बचपन में होती हैं जवान होती हैं बूढ़ी होती हैं और मरती हैं ये जो योग की बीस हजार साल की बीस हजार साल की मैं इसलिए कहता हूं कि बीस हजार साल का हिसाब थोड़ा साफ है वैसे इसे और भी साफ करना हो तो बीस हजार साल के पहले जो सभ्यताएं रही उनको बिना जाने साफ नहीं किया जा सकता एक आदमी की जवानी ठीक से समझनी हो तो दस आदमियों की जवानी समझनी जरूरी है अकेली नहीं समझी जा सकती कोई रेफरेंस नहीं होता कोई संदर्भ नहीं होता कैसे समझा जाए वो क्या कर रहा है ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है एक आदमी का बुढ़ापा समझना हो तो 25 बूढ़ों पर नजर डालनी जरूरी है नहीं तो अधूरा अधूरा एक एक व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं बता पाता है एक एक घटना कुछ नहीं कहती लेकिन बीस हजार साल का इतिहास साफ है इस बीस हजार साल में योग निरंतर एक बात कहता रहा है कि आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ आधा मस्तिष्क है जो बंद पड़ा है अगर तुम्हें संसार के पार कुछ जानना है तो उस आधे मस्तिष्क को सक्रिय करना जरूरी है अगर परमात्मा के संबंध में कोई यात्रा करनी है तो वह आधा मस्तिष्क सक्रिय होना जरूरी है अगर पदार्थ के पार देखना है तो वह आधा मस्तिष्क सक्रिय होना जरूरी है उसका द्वार है आज्ञा वो जहां आप तिलक लगाते हैं वो तो करस्पॉन्डिंग हिस्सा है आपकी चमड़ी के ऊपर उससे अंदाजन डेढ़ इंच भीतर अंदाजन कहता हूं क्योंकि किसी का थोड़ा ज्यादा किसी का थोड़ा कम अंदाजन डेढ़ इंच भीतर वो बिंदु है जो द्वार का काम करता है पदार्थ अतीत भावातीत जगत के लिए तिब्बत में तो जैसा हमने तिलक आविष्कृत किया तिब्बत ने तो ठीक ऑपरेशंस भी आविष्कृत किए और तिब्बत ही कर सकता था क्योंकि तिब्बत ने जितनी मेहनत की है मनुष्य के तीसरे नेत्र पर और थर्ड आई पर उतना किसी और सभ्यता ने नहीं किया सच तो यह है कि तिब्बत का पूरा का पूरा विज्ञान और पूरी समझ जीवन के अनेक आयामों की समझ उस तीसरे नेत्र की ही समझ पर आधारित है जैसा मैंने कायसी का आपके लिए कहा तो कायसी तो एक व्यक्ति है तिब्बत में तो सैकड़ों साल से व्यक्ति जब तक समाधि में ना जाए तब तक दवा का कोई पता ही नहीं लगाते रहे ये पूरी सभ्यता ही वो काम करती रही समाधिस्थ व्यक्ति से ही दवा पूछेंगे उसकी दवा का ही उपयोग है बाकी तो सब अंधेरे में टटोलना है उन्होंने तो ऑपरेशंस भी विकसित किए ठीक इस डेढ़ इंच के भीतर जो जगह है उस पर ऑपरेशंस भी करने के प्रयोग किए उसको बाहर से भी तोड़ने की कोशिश की वो टूट जाती है बाहर से भी टूट जाती है लेकिन बाहर से टूटने में और भीतर से टूटने में एक फर्क है इसलिए भारत ने कभी उसको बाहर से तोड़ने की कोशिश नहीं की वो मैं आपको ख्याल में दे दू उसे भीतर से ही तोड़ने उसका आधा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है बहुत संभावना यह है कि वो अपने इस नए आधे मस्तिष्क की सक्रियता का दुरुपयोग करेगा उसकी चेतना में कोई अंतर नहीं हुए हैं वो आदमी वही का वही है उसकी चेतना में कोई साधनागत अंतर नहीं हुए और उसके मस्तिष्क में नए काम शुरू हो गए अगर वो आदमी आज दीवाल के पार देख सकता है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो कुएं में किसी गिरे आदमी को देख के निकालने जाएगा इसकी बात की बहुत संभावना है कि किसी के गड़े हुए खजाने को खोदने जाएगा अगर वो आदमी ये देख सकता है कि उसके भीतरी इशारे से आपको आज्ञा दी जा सकती है तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि आपसे वो कोई अच्छा काम करवाएगा इस बात की बहुत संभावना है कि आपसे वो कोई बुरा काम करवाए ऑपरेशन हो सकता था भारत को भी उसके सूत्र पता थे पर उसका कभी प्रयोग नहीं किया नहीं प्रयोग किया इसीलिए कि जब तक व्यक्ति की चेतना भी भीतर से इतनी विकसित ना हो कि नई शक्तियों का उपयोग करने में समर्थ हो जाए तब तक उसे नई शक्तियां देना खतरनाक है बच्चे के हाथ में जैसे हम तलवार दे दें बहुत डर तो यह है कि वो दो चार को काटेगा डर यह भी है कि वो अपने को भी काटेगा और बच्चे के हाथ में दी गई तलवार से किसी का भी मंगल हो सकेगा इसकी आशा करना दुराशा मात्र है तो चेतना के तल पर अगर व्यक्ति के भीतर की चेतना विकसित न हो उसके हाथ में नई शक्तियां देना खतरनाक है तिब्बत ने उस जहां हम तिलक लगाते रहे हैं वहां ठीक भीतर तक भी छेद करने की कोशिश की है भौतिक उपकरणों से इसलिए तिब्बत बहुत सी बातें जान पाया बहुत से अनुभव कर पाया लेकिन फिर भी तिब्बत कोई नैतिक अर्थों में महान देश नहीं बन पाया ये ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना है तिब्बत बहुत काम कर पाया लेकिन फिर भी नैतिक अर्थों में तो वो एक बुद्ध भी पैदा नहीं कर पाया उसकी जानकारी बढ़ी उसकी शक्ति बढ़ी अनूठी बातों का उसे पता चला लेकिन उन सब का उपयोग बहुत छोटी बातों में हुआ उनका बहुत बड़ी बातों में उपयोग नहीं हो सका भारत ने कोई सीधा भौतिक प्रयोग करने की कभी चेष्टा नहीं की चेष्टा यह की कि भीतर से चेतना को इकट्ठा करके इतना कंसंट्रेट इतना एकाग्र किया जाए कि चेतना की शक्ति से ही वो तीसरा नेत्र खुल जाए उसके ही प्रवाह में खुल जाए क्योंकि उसके प्रवाह को तीसरे नेत्र तक लाना एक बड़ा नैतिक उपक्रम है उसे इतना ऊपर चढ़ाना क्योंकि साधारणतः हमारा मन नीचे की तरफ बहता है सच तो यह है कि हमारा मन सेक्स सेंटर की तरफ ही बहता रहता है हम कुछ भी करते हो हम चाहे धन कमाते हो चाहे पद की चेष्टा करते हो चाहे कुछ भी करते हो हमारा सब करने के पीछे कहीं गहरे में काम वासना हमें खींचती रहती धन भी हम कमाते हैं तो इसी आशा में कि उससे काम खरीदा जा सके और पद की भी हम इच्छा करते हैं इसी आशा में कि पद पर बैठकर हम ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे काम को खरीद लेने में इसलिए अगर पुराने दिनों में राजा की इज्जत का पता इससे चलता था कि कितनी रानियां उसके पास है तो वो ठीक मेजरमेंट था वो ठीक ठीक क्योंकि पद का और कोई मूल्य क्या है पद का करोगे क्या कितनी स्त्रियां तुम्हारे हरम में उससे पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े पद पर पद का भी उपयोग धन का भी उपयोग घूम के तो काम वासना के लिए ही होना है हम जो भी करेंगे हमारी सारी शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ती रहेगी और जब तक शक्ति काम के केंद्र की तरफ दौड़ रही तभी तक व्यक्ति अनैतिक हो सकता है अगर शक्ति को ऊपर की तरफ दौड़ानी है तो काम की यात्रा रूपांतरित करनी पड़ेगी अगर आज्ञा चक्र की तरफ शक्ति को ले चलना है तो काम की यात्रा को बदलना पड़ेगा रुख पूरा ध्यान पीठ ही फेर लेनी पड़ेगी नीचे की तरफ और मुंह करना पड़ेगा ऊपर की तरफ ऊर्धमुखी होना पड़ेगा यह जो ऊर्ध्व गमन है यह यात्रा बड़ी नैतिक होगी इसमें इंच इंच संघर्ष होगा इसमें एक एक कदम कुर्बानी होगी इसमें जो क्षुद्र है वो खोने की तैयारी दिखानी पड़ेगी ताकि विराट मिल सके इसमें कीमत चुकानी पड़ेगी और इतनी सारी कीमत चुका के जो व्यक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंचता है उसे जो विराट शक्ति उपलब्ध होती है वो उसका दुरुपयोग कैसे कर पाएगा तो दुरुपयोग का कोई सवाल नहीं उठता दुरुपयोग करने वाला तो इस मंजिल तक पहुंचने के पहले समाप्त हो गया होता इसलिए तिब्बत में ब्लैक मैजिक पैदा हुआ ये ऑपरेशन की वजह से तिब्बत में अध्यात्म कम पैदा हुआ और जिसको हम कहें कि सैतानी ढंग का उपद्रव ज्यादा पैदा हुआ ब्लैक मैजिक पैदा हुआ इस तरह की ताकत हाथ में आनी शुरू हो गई सूफियों में एक कहानी जीसस के बाबत ईसाइयों में उसका कोई उल्लेख नहीं है इसलिए मैं सूफियों से कहता हूं जीसस की बहुत सी कहानियां सूफियों के पास हैं ईसाइयों के पास नहीं है कई बार तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं मुसलमानों के पास हैं ईसाइयों के पास नहीं है जीसस के जीवन यह घटना भी उनमें से एक है कि जीसस के तीन शिष्य जीसस के पीछे पड़े और उनसे कहते हैं कि हमने सुना है और देखा भी कि आप मुर्दे को कहते हैं कि उठ जाओ और वो उठ जाता है हमें तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहिए हमें तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ ये तरकीब सिखा दो ये मुरा हुआ आदमी कैसे जिंदा हो जाए जीसस उनसे कहते हैं लेकिन ये मंत्र का उपयोग तुम स्वयं पर कभी ना कर पाओगे <laughs> क्योंकि तुम मर चुके होगे फिर मंत्र का उपयोग कैसे करोगे और दूसरे को जिलाने से तुम्हें क्या फायदा होगा मैं तुम्हें वो तरकीब बताता हूं जिससे कि तुम मरो ही नहीं वो कहते हैं हमें इसका कोई आप हमें बहलाएं मत हमें तो ये मुद्दे की बात बता दें ये चीज जानने जैसी है वो इतने पीछे पड़े हैं कि जीसस ने कहा कि ठीक है जीसस ने उन्हें वो सूत्र बता दिया जिस सूत्र के उपयोग से मरा हुआ जिंदा हो जाता वो तीनों भागे उसी दिन जीसस को छोड़कर भाग गए मुर्दे की तलाश में देर करनी उचित नहीं मंत्र में कोई शब्द भूल जाए कोई गड़बड़ हो जाए इसका जल्दी प्रयोग करके दे दुर्भाग्य गांव में गए कोई मुर्दा नहीं दूसरे गांव की तरफ निकले तो बीच में अस्थि पंजर पड़ा हुआ मिल गया मुर्दा भी नहीं मिला चलो यही ठीक मंत्र पढ़ा जल्दी थी बहुत वो शेर के अस्थि पंजर थे शेर उठकर खड़ा हो गया वो उन तीनों को खा गया सूफी कहते हैं कि यही होगा वो जो कुतूहल और अनैतिक चित्त का कुतूहल खतरे में ले जाता है बहुत बार बहुत से सूत्र जानकर भी छिपा लिए गए बार बार कि वो गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाएं सामान्य आदमी को भी खबर दी गई तो उसे इस ढंग से दिया गया कि जब वो योग हो जाए तभी उसे पता चल पाए सोचेंगे आप तिलक के संबंध में मैं ये क्यों कह रहा हूं हर बच्चे के माथे पर तिलक लगा दिया जबकि उसे कुछ पता नहीं है कभी उसे पता होगा कभी उसे पता चलेगा तब वो इस तिलक के राज को समझ पाएगा इशारा कर दिया गया है किसी जगह का ठीक जगह पर निशान बना दिया गया है कभी जब उसकी चेतना इतनी समर्थ होगी तब वो इस निशान का उपयोग कर पाएगा कोई फिक्र नहीं सौ आदमियों पर लगाया गया निशान और निन्यानबे के लिए काम नहीं पड़ा कोई फिक्र नहीं एक को भी काम पड़ जाए तो कम नहीं है इस आशा में सौ पे लगा दिया गया है कभी किसी क्षण में कभी किसी क्षण में उसका स्मरण आ जाएगा तो पता चल जाएगा तिलक के लिए इतना मूल्य इतना सम्मान कि जब भी कुछ विशेष घटना हो शादी हो रही हो तो तिलक हो कोई जीत के लौट आए तो तिलक हो कभी आपने सोचा कि हर सम्मान की घटना के साथ तिलक यह सिर्फ लाफ एसोसिएशन का उपयोग है क्योंकि हमारे चित्त में एक बड़े मजे का मामला है हमारा चित्त दुख को भूलना चाहता है और सुख को याद रखना चाहता है हमारा चित्त लंबे अरसे में दुख को भूल जाता है और सुख को याद रखता है इसलिए तो हमें पीछे के दिन अच्छे मालूम पड़ते बूढ़ा कहता है बचपन बहुत सुखद था कोई और बात नहीं है दुख को ड्रॉप कर देता है मन हमारा सुख की श्रृंखला को कायम रखता है जब लौट के पीछे देखता है तो सुख सुख दिखाई पड़ता है बीच बीच में जो दुख थे उनको हम गिराए रास्ते में कोई बच्चा नहीं कहता कि बचपन सुखद है बच्चे जल्दी से जल्दी बड़े होना चाहते और सब बूढ़े कहते हैं बचपन बहुत सुखद है जरूर कहीं ना कहीं कोई भूल हो रही अभी जितने बच्चे उनको खड़े करके पूछो कि तुम क्या होना चाहते हो वो कहेंगे हम बड़े होना चाहते तो जितने बूढ़े उनसे पूछो क्या होना चाहते वो कहेंगे हम बच्चे होना चाहते मगर एक बच्चा गवाही नहीं देता तुम्हारे साथ बच्चा जितने जल्दी बड़ा हो जाए इसलिए कई दफे वो तो ऐसी कोशिश करता बड़े होने की कि जिसका कोई हिसाब सिगरेट पीने लगता है इसलिए वो देखता है कि सिगरेट जो सिंबॉलिक है बड़े आदमी का कोई और कारण से नहीं मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों में सौ में से सत्तर प्रतिशत बच्चे इसलिए सिगरेट पीते हैं कि सिगरेट जो है प्रेस्टीज का प्रतीक उसको ताकतवर बड़े लोग प्रतिष्ठा वाले लोग पीते वो भी पी के धुआं जब उड़ाता है तो भीतर उसकी रीढ़ सीधी हो जाती है समबडी उसको मालूम पड़ता है मैं भी कुछ ऐसा वैसा नहीं किसी फिल्म पे लिख दें कि इसको सिर्फ अडल्ट देख सकते हैं बच्चे सब नकली मूछ लगा के फिल्म के भीतर प्रवेश कर जाए क्यों बड़ा होने की बड़ी तीव्र जल्दी मगर सब बूढ़े कहते हैं कि बचपन बड़ा सुखद था कहीं कोई बात हो रही है बात कुल इतनी ही है कि मन दुख को भुला देता है गिरा देता है दुख याद रखने जैसी चीज भी नहीं एक बहुत हैरानी का सूत्र पियागेट नाम के मनोवैज्ञानिक जिसने 40 साल से बच्चों पर मेहनत की है उसका कहना है कि पांच साल से पहले की किसी बच्चे को स्मृति नहीं रहती बाद में उसका कुल कारण यह है कि पांच साल की जिंदगी इतनी दुखद है कि उसको याद नहीं रखा जा सकता यह हम सोच ना सकेंगे पर पियागेट ठीक कहता अनुभव से कहता भारी अनुभव से कहता है आपको अगर कहा जाए कि आपको कब तक की याद है तो आप ज्यादा ज्यादा पांच साल चार साल लौट पाते हैं फिर क्यों नहीं लौटते पीछे और क्या उस वक्त मेमोरी नहीं बनती थी बनती थी क्या उस वक्त घटना नहीं घटती थी घटती थी क्या उसको किसी ने गाली नहीं दी और किसी ने प्रेम नहीं किया सब हुआ है पर मामला क्या है चार साल के पहले की स्मृति का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है आपके पास पियागट कहता है कि वो दिन इतने दुख में बीतते हैं क्योंकि बच्चा अपने को इतना दीन इतना कमजोर इतना हीन सबसे दबा हुआ इतना असहाय अनुभव करता है कि उसका कुछ भी याद रखना उसको पसंद नहीं उसको ड्रॉप कर देता भूल ही जाता वो कहता चालीस चार साल पहले तो मुझे कुछ याद ही नहीं कुछ याद नहीं क्योंकि बाप ने कहा बैठ तो उसको बैठना पड़ा था माँ ने कहा उठो तो उसे उठना पड़ा था सब बड़े थे बड़े शक्तिशाली थे उसकी अपनी कोई सामर्थ्य ना थी वो बिल्कुल हवा में उड़ता हुआ पत्ता जैसा था जो कोई कुछ कह दे सब पर निर्भर था जरा सी आंख का इशारा और उसको डर जाना पड़ेगा उसके हाथ में कुछ भी सामर्थ्य ना थी उसने उसको बंद कर दिया वो ख्याल ही छोड़ दिया कि मैं कभी था ऐसा बात खत्म हो गई वो चार साल के पहले की याद ही नहीं करता मजे की बात है हिप्नोटाइज करके आपको याद करवाई जा सकती है चार साल पहले की नहीं मां के पेट में भी जब आप थे तब की भी स्मृति बनती है अगर मां गिर पड़ी हो आपकी तो बच्चे को उसके पेट में स्मृति बनती है कि चोट पहुंची तो वो भी याद करवाई जा सकती लेकिन साधारणता होश में नहीं रहती तो इस तिलक को सुख के साथ जोड़ने का उपाय कारण पूर्वक है जब भी सुख की कोई घटना घटे तिलक कर दो सुख याद रहेगा साथ में तिलक भी याद रह जाएगा और धीरे धीरे सुख अगर तीसरे आंख से संयुक्त हो जाए ये लाफ एसोसिएशन को थोड़ा समझ लें पावलफ ने बहुत से प्रयोग किए इस सदी में रूसी वैज्ञानिक पावलफ एसोसिएशन के ऊपर सर्वाधिक काम किया है उसका कहना है कोई भी चीज जोड़ी जा सकती है सब जोड़ सहयोग के हैं जैसे उसका प्रयोग सबको पता है कि वह कुत्ते कुत्ते को खाना देगा तो रोटी सामने रखेगा तो लार टपकेगी तभी वो घंटी बजाता रहेगा अब घंटी से लार टपकने का कोई भी संबंध नहीं कितनी घंटी बजाई लार कैसे टपकेगी कुत्ते की लेकिन रोटी रखी लार टपकी तब घंटी बजाई पंद्रह दिन वो रोटी के साथ घंटी बजेगी सोलहवें दिन रोटी तो हटा ली सिर्फ घंटी बजाई लार टपकने लगी क्या हुआ क्या कुत्ते को घंटी से लार का कोई भी नैसर्गिक संबंध नहीं है लेकिन अब संबंध जुड़ गया रोटी के साथ घंटी एक हो गई घंटी का बजना रोटी की याद बन गई रोटी की याद चक्र शुरू हो गया उसके मन में रोटी का लार टपकनी शुरू हो गई घंटी प्रतीक की तरह आ गई वो रोटी का सिंबल हो गई इस कानून का उपयोग तिलक में किया गया है आपके सुख के साथ तिलक को सदा जोड़ा जब भी सुख की कोई घटना घटी तिलक तिलक और सुख को एक किया धीरे धीरे तिलक और सुख इतने एक हो जाएं कि तिलक को कभी भूला ना जा सके एक वो आपके स्मरण में टक जाए बैठ जाए और जब भी सुख की याद आए तब आज्ञा चक्र की याद आए जब भी सुख की याद आए तब जो पहली याद आए वो आज्ञा चक्र की याद आए और सुख की हमें बहुत याद आती है सुख में तो हम चाहे हुआ हो या ना हुआ हो उसकी याद में तो जीते जितना होता है उससे ज्यादा बड़ा करके याद करते रहते हैं पीछे पीछे तो धीरे धीरे तो उसको इतना बड़ा कर लेते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं सुख को हम बड़ा करते रहते हैं मैग्निफाई करते रहते हैं दुख को छोटा करते रहते हैं एक ही नियम के अनुसार सुख को बड़ा करते रहते हैं आपकी प्रेस मिली थी कितना सुख आया था आज सोचेंगे तो बहुत बड़ा मालूम पड़ेगा अभी मिल जाए तो पता चले एकदम छोटा सिकुड़ जाए और कल हो सकता है फिर 24 घंटे बाद आप मैग्निफाई करेंगे आह कितना आनंद था वो पीछे हमारा मन सुख को बड़ा करता जाता है असल में इतना दुख है जीवन में कि अगर हम सुख को बड़ा ना कर पाए तो जीना बहुत मुश्किल है उसको बड़ा करके रस ले लेके चलाते इधर पीछे बड़ा कर लेते हैं उधर आगे आशा में बड़ा कर लेते हैं और चलते तिलक के साथ सुख को जोड़ने का प्रयोजन है कि जब सुख बड़ा हो तो तिलक भी बड़ा हो जाए जब सुख की याद आए तो तिलक की भी याद आए और ये चोट जो है याद की धीरे धीरे सुख आज्ञा चक्र से जुड़ जाए कि जब भी जीवन में सुख आए तो आज्ञा चक्र का स्मरण आए और यह हो जाता है और जब यह हो जाता है तो आपने सुख का उपयोग किया तीसरे आंख को जगाने के लिए सब सुख की स्मृतियां आज्ञा के चक्र से जुड़ गई अब यह हम सुख की धारा का उपयोग कर रहे हैं उसको चोट करने के लिए यह चोट जितने मार्गों से पढ़ सके उतना उपयोगी है जिन मुल्कों में तिलक का उपयोग नहीं हुआ वो वे ही मुल्क हैं जिनको थर्ड आई का कोई पता नहीं है ये आपको ख्याल होना चाहिए जिन जिन मुल्कों को तीसरी आंख का थोड़ा भी अनुमान हुआ उन्होंने तिलक का उपयोग किया जिन मुल्कों को कोई पता नहीं है वे तिलक नहीं खोज पाए तिलक खोजने का कोई कोई आधार नहीं था समझ लें थोड़ा आकस्मिक नहीं है कि कोई समाज एकदम से उठाए और एक टीका लगा के बैठ जाए पागल नहीं है अकारण माथे के इस बीच के बिंदु पर ही तिलक लगाने की सूझ का कोई कारण भी तो नहीं है ये कहीं भी तो और लगाया जा सकता आकस्मिक नहीं हो सकता उसके पीछे कारण हो तो टिक सकता है और भी आपको एक दो तीन बातें इस संबंध में कहूं एक आपने कभी ख्याल ना किया होगा जब भी आप चिंता में होते हैं तब आपकी तीसरी आंख पर जोर पड़ता है इसलिए माथा पूरा का पूरा सिकुड़ता है उसी जगह जोर पड़ता है जहां तिलक बहुत चिंता करने वाले बहुत विचार करने वाले लोग बहुत मननशील लोग अनिवार्य रूप से माथे के बल डाल के उस जगह की खबर देते हैं और जिन लोगों ने जैसा मैंने पीछे कहा जिन लोगों ने पिछले जन्मों में कुछ भी तीसरी आंख पर जोर किया है उनके जन्म के साथ ही उनके माथे पर अगर आप हाथ फेराएं तो आपको तिलक की प्रतीति होगी उतना हिस्सा थोड़ा सा धसा हुआ होगा थोड़ा सा किंचित ठीक तिलक जैसा धसा हुआ होगा दोनों तरफ हिस्से थोड़े उभरे हुए होंगे ठीक उस जगह पर जहां पिछले जन्मों में मेहनत की गई है वहां थोड़ा सा हिस्सा धसा हुआ होगा और आप उंगली अंगूठा लगा के भी आंख बंद करके भी पहचान सकते वो जगह आपको अलग मालूम पड़ जाएगी तिलक हो या टीका टीका उसका ही विशेष उपयोग है तिलक का लेकिन दोनों के पीछे तीसरी आंख छिपी हुई है हिप्नोटिस्ट एक छोटा सा प्रयोग करते हैं चारकाट फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनस्विद हुआ जिसने इस बात पर बहुत काम किए आप भी छोटा सा प्रयोग करेंगे तो आपको चारकाट की बात ख्याल में आ जाएगी अगर आप किसी के सामने उसके माथे पर दोनों आंखें गड़ा कर देखें तो तो वो आदमी आपको गड़ाने ना देगा अगर आप किसी के माथे पर दोनों आंखें गड़ा के देखें तो वह आदमी जितना क्रुद्ध होगा उतना किसी और चीज से नहीं हो सकता इसलिए वो तो अशिष्ट व्यवहार है वो तो आप कर नहीं पाएंगे पर सामने से तो बहुत निकट है वो सिर्फ डेढ़ इंच के फासले पर है अगर आप किसी के माथे पर पीछे से भी दृष्टि रखें तो भी आप हैरान हो जाएंगे रास्ते पर आप चल रहे हो कोई आदमी आपके आगे चल रहा है आप ठीक जहां माथे पर यह बिंदु है तिलक का ठीक इसके आर पार अगर हम एक छेद करें तो पीछे जहां से छेद निकलता हुआ मालूम पड़ेगा अनुमान करके उस जगह दोनों आंखें गड़ा दें और आप कुछ ही सेकंड आंख गड़ा पाएंगे कि वह आदमी लौट के आपको देखेगा सिर्फ होटल के बैरे भर नहीं देखेंगे उन पर भर आप प्रयोग मत कर किसी होटल में बैठ के उसका कारण सिर्फ वे लोग नहीं देखेंगे जैसे मैंने होटल के बैरे का आपको कहा वो जान के कहा था कि आपको ख्याल में आ जाए होटल का बैरा भर आप कितना ही उसके पीछे माथे पर गड़ाए नहीं देखेगा क्योंकि वो पूरे वक्त ग्राहकों से बचने की कोशिश में वो जैसे ही उसको पता चल जाए कि कोई उसमें उत्सुक है वो और ज्यादा दूसरी टेबलों के आसपास चक्कर मारने लगे इसलिए वो भर आपको नहीं देखेगा बाकी कोई भी देख लेगा अगर आप ठीक से थोड़े दिन अभ्यास करें और उस आदमी को सुझाव दें तो सुझाव भी वो आदमी मानेगा समझ लें कि आप एक आदमी के पीछे लौट के पीछे आप देखते हैं किसी आदमी के माथे पर गड़ा के आंख पलक नहीं झपे कुछ सेकंड बिना पलक झपे देखते ना वो आदमी पीछे लौट कर देख अगर वो आदमी लौट कर देखता है तब आप उसको आज्ञा भी दे सकते फिर दोबारा उस आदमी को आप कहें बाएं घूम जाओ तो वो आदमी बाएं घूमेगा और बड़ी बेचैनी अनुभव करेगा हो सकता है उसको दाएं जाना हो या आप थोड़ा प्रयोग करके देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे मगर ये तो पीछे से जहां से कि फासला बहुत ज्यादा है सामने से तो बहुत हैरानी के परिणाम होते हैं बहुत हैरानी के परिणाम होते जितने लोग भी हल्के किस्म का शक्तिपात करते रहते हैं वो आपके इसी चक्र के कारण और कुछ कारण नहीं होता कोई साधु कोई सन्यासी अगर शक्तिपात के प्रयोग करते रहते हैं लोगों पर तो वो ये कि आपको आंख बंद करके सामने बिठा लिया है आप समझ रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ आपके माथे के इस बिंदु पर दोनों आंखें गड़ा के बैठे लेकिन आप तो आंख बंद किए बैठे और इस बिंदु पर जो भी आपको सुझाव दिया जाए वो आपको भ्रांति प्रतीति फौरन हो जाएगी और कहा जाए कि भीतर प्रकाश ही प्रकाश आपको भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए बस इधर से आप गए कि वो विदा हो जाए दो चार दिन उसकी हल्की झलक रह सकती है फिर समाप्त हो जाए वो कोई शक्तिपात वगैरह नहीं है वो सिर्फ आपके आज्ञा चक्र का थोड़ा सा उपयोग है ये तृतीय नेत्र की अनूठी संपदा है और अपर सीम उपयोग है उसके लिए सिर्फ सिंबॉलिक तिलक है जब यहां दक्षिण में पहली दफा ईसाई फकीर आए तो कुछ ईसाई फकीरों ने तो आके तिलक लगाना शुरू कर दिया आज से एक हजार साल पहले वेटिकन की अदालत में मुकदमे की हालत आ गई क्योंकि यहां जिन ईसाई फकीरों को भेजा था उन्होंने यहां के जनेऊ भी पहन लिया और तिलक भी लगाया और खड़ाऊ भी डाल ली और वो हिंदू सन्यासी की तरह रहने लगे तो वेटिकन की अदालत तक मामला गया वो कि ये तो बात गलत है तो जिन फकीरों ने ये किया था उन्होंने उत्तर दिए उन्होंने कहा कि गलत नहीं है ये तिलक लगाने से हम हिंदू नहीं हो रहे इस तिलक लगाने से तो हमें सिर्फ एक रहस्य का पता चला जिसका आपको पता नहीं था इस खड़ाओं को पहनकर हम हिंदू नहीं हो रहे ये तो हमें पहली दफे हिंदुओं की समझ का पता चला है कि ध्यान करते वक्त अगर लकड़ी पैर के नीचे हो तो बिना लकड़ी के जो काम महीनों में होगा वो लकड़ी के साथ दिनों में हो सकता है हम हिंदू नहीं हो गए लेकिन अगर हिंदू कुछ जानते हैं तो हम ना समझ होंगे कि हम उसका उपयोग ना करें और निश्चित हिंदू कुछ जानते हैं कोई भी कौम जो बीस हजार साल से निरंतर धर्म के संबंध में खोज कर रही कुछ भी ना जानती हो यही चमत्कार की बात होगी कुछ भी ना जानती हो बीस साल से जिसके मनीषी पूरे जीवन को लगाकर एक ही दिशा में काम करते रहे हो जिसके सारे मनीषी हजार हजार साल तक जिसके सारे बुद्धिमान लोग एक ही दिशा में लगे रहे हों एक ही जिनकी आकांक्षा रही हो कि किस भांति संसार में जो छिपा हुआ सत्य है उसका पता चल जाए वो जो अदृश्य है वो दिखाई पड़ जाए वो जो अरूप है उससे पहचान हो जाए वो जो निराकार है उसमें प्रवेश हो जाए जिन्होंने बीस हजार साल तक जिनकी सारी मेधाने सारी प्रतिभा ने एक ही चेष्टा की हो उनको कुछ भी पता ना हो यही बात आश्चर्य की कुछ पता हो यह बात बहुत आश्चर्य की नहीं है इसमें क्या आश्चर्य की बात है ये पता होना बिल्कुल स्वाभाविक है लेकिन पिछले 200 साल में घटना घटी जिससे हमको परेशानी हुई है पिछले 200 साल में एक घटना घटी और वो घटना हमारे ख्याल में ना आए तो वो परेशानी जारी रहेगी इस देश के ऊपर सैकड़ों बार हमले हुए हैं लेकिन कोई हमलावर ठीक जगह पर हमला नहीं कर पाया किसी ने धन लूट लिया किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया किसी ने मकान और महल ले लिए लेकिन ठीक जो हमारा अंतस्थल था उस पर कोई हमला नहीं कर पाया उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया पहली बार पश्चिमी सभ्यता ने इस मुल्क के अंतस्थल पर चोट करनी शुरू की और वो चोट करने के जो सुगमतम उपाय था वो ये था कि आपके पूरे इतिहास को आपसे विच्छिन्न कर दिया जाए आपके इतिहास में और आपके बीच में खाई पैदा हो जाए बस फिर आप बिना जड़ के हो जाएंगे अपरूटेड हो जाएंगे फिर आपकी कोई ताकत न रह जाएगी अगर आज पश्चिम की सभ्यता को नष्ट करना हो तो सारे पश्चिम के मकान गिराने की जरूरत नहीं है और न सिनेमा घर गिराने की जरूरत है और न पश्चिम की होटलें गिराने की जरूरत सिर्फ पश्चिम की पांच यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया जाए पश्चिम का कल्चर नष्ट हो जाए कोई पश्चिम की जो संस्कृति है वो कोई सिनेमा घर में और कोई होटल में और कोई नाइट क्लब में नहीं है वो चलते रहे उनसे कुछ लेना देना नहीं है सिर्फ पश्चिम की पांच केंद्रीय बड़ी यूनिवर्सिटियां नष्ट कर दी जाए पश्चिम एकदम खो जाए क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा जो असली जो जो आधार होता है संस्कृति का वो उसके ज्ञान के सूत्र होते हैं उसकी उसकी जड़ें होती हैं श्रृंखला में ज्यादा देर की जरूरत नहीं है एक दो पीढ़ी को इतिहास से वंचित कर दिया जाए आगे का मामला टूट जाएगा आदमी और जानवर में वही फर्क है जानवर कोई विकास नहीं कर पाते क्या बात है कुल इतनी सी बात है कि जानवरों के पास कोई स्कूल नहीं और कोई बात नहीं और जानवर के पास कोई उपाय नहीं है कि अपनी नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का ज्ञान दे सके बस और कोई बात नहीं तो जानवर का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको वहीं से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है जहां उसके बाप ने शुरू की थी जब उसका बच्चा पैदा होगा वो भी वहीं शुरू करेगा जहां उसके बाप ने शुरू की आदमी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चे को वहां से जिंदगी शुरू करवा देता है जहां खुद समाप्त करता है इसलिए विकास होता है सारा विकास पुरानी पीढ़ी के द्वारा नई पीढ़ी को अपना संचित अनुभव देने में निर्भर है सोचें 20 साल के लिए बूढ़े तय कर लें कि हम बच्चों को कुछ ना बताएंगे तो आप समझते हैं बीस साल का नुकसान नहीं होगा बीस हजार साल में जो इकट्ठा हुआ उसका नुकसान हो जाएगा अगर बीस साल के लिए बूढ़े तय कर लें पिछली पीढ़ी तय कर ले कि नई पीढ़ी को अब कुछ नहीं बताना है तो आप यह मत सोचना कि बीस साल का ही नुकसान होगा और इसको बीस साल में पूरा किया जा सकेगा नहीं बीस साल में जो नुकसान होगा उसको पूरा करने में बीस हजार साल लगेंगे क्योंकि गैप खड़ा हो गया पुरानी पीढ़ियों का सबका सब डूब जाएगा 200 साल में भारत के लिए भारी गैप पैदा हुआ जिसमें उसकी जो भी जानकारी थी उसके उसके सारे संबंध टूट गए और उसके सारे संबंध एक नई जानकारी से जोड़े गए जिसका पुरानी जानकारी से कोई संबंध नहीं था तो हम सोचते ही हैं आज के हम बहुत पुरानी कौम हैं सच बात है कि अब हम 200 साल से ज्यादा पुरानी कौम नहीं है अब हमसे अंग्रेज ज्यादा पुराने हैं अब अब हमारे पास जो जानकारी है वो कचरा है उच्छिष्ट वो भी जो पश्चिम हमको दे दे वो हमारी जानकारी है 200 साल के पहले हम जो भी जानते थे वो सबका सब एक बारगी खो गया और जब कोई चीज के सूत्र खो जाएं तो मूर्खता मालूम पड़ने लगती है अब अगर आप ऐसे टीका लगा के जाएं तो शर्म लगती कोई भी पूछ ले कि क्या है कैसे टीका लगाया हो तो ऐसे कुछ नहीं पिताजी नहीं माने या क्या किया जाए बस ठीक है किसी तरह चलाना पड़ता है आज आनंद और प्रफुल्लता से टीका लगाना बहुत मुश्किल है हां बुद्धि बिल्कुल ना हो तो लगा सकते तो फिर कोई डर ही नहीं है पर उसका भी कारण यह नहीं है कि आपको पता है इसलिए लगा रहे ज्ञान के सूत्र जब गिर जाते हैं और उनका ऊपरी ढांचा रह जाता तो ढोना बड़ा कठिन हो जाता है और तब एक दुर्घटना घटती है कि जो सबसे कम बुद्धिमान होते हैं वो उसको ढोते हैं जो बुद्धिमान होते हैं दूर खड़े हो जाते हैं एक दुर्घटना घटती है जबकि बुद्धिमान ही जब तक किसी चीज को लेकर चलता है तभी तक वो सार्थक रहती है और यह बड़े मजे की बात है कि जब भी दुर्घटना घटती है ज्ञान के सूत्र खोते हैं तो बुद्धिमान सबसे पहले छटके अलग हो जाते हैं क्योंकि वो बुद्धू बनने के लिए राजी नहीं हाँ जो बुद्धू है वो जारी रखता है मगर वो बचा नहीं सकता उसका कोई उपाय नहीं वो कुछ दिन खींचेगा और समाप्त हो जाएगा तो कई बार ऐसी घटना घटती है कि बड़ी कीमत की चीजें जो ना समझे वो बचाए रखते और जो समझदार है पहले छोड़ के खड़े हो जाते जिंदगी में बड़े दांव पेंच अगर ठीक से हमें भारत का ये 200 साल का जो अंतराल पड़ गया वो पूरा करना हो तो भारत में आज जो जो काम बुद्धिहीन कर रहे हैं उसको वापस सोचने की जरूरत है एक एक बिंदु को क्योंकि वो अकारण नहीं कर रहे हैं उनके साथ बीस हजार साल की लंबी घटना वो नहीं बता सकते कि क्यों कर रहे हैं इसलिए उन पर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं किसी दिन हमको उन्हें धन्यवाद भी देना पड़ सकता है कि कम से कम तुमने प्रतीक तो बचाया था जो कि पुनः खोज की जा सके तो आज भारत में जो बिल्कुल ग्रामीण और ना समझ जिसको कुछ समझ नहीं है कोई ज्ञान नहीं है जिसको हम मूढ़ कह सकते हैं वो जो जो कर रहा हो उसको फिर से उठाकर और 200 साल पहले के सूत्रों से जोड़ने की और 20,000 साल की समझ के साथ पुनरुज्जीवित करने की जरूरत है और तब आप चकित हो जाएंगे तब आप चकित हो जाएंगे तब आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि कि